गीता तत्व चिंतन पुनर्जन्म मीमांसा दो साधना का तत्व इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि मनुष्य योनि में प्रविष्ट होने से पूर्व तक विकास क्रम यांत्रिक और जैविक है पर मनुष्य योनि में आते ही वह प्रमुखतः मानसिक हो जाता है इसका यह अर्थ यह हुआ कि डार्विन ने विकासक्रम को जो यांत्रिक और जैविक माना था वह मनुष्यतर योनियों पर तो लागू होता है पर मनुष्य योनि में उसका स्वरूप बदल जाता है यहाँ आकर विकास क्रम मनुष्य को एक ऐसा घेरा प्रदान करता है जिसके भीतर मनुष्य स्वतंत्र है और जिसका सही सही उपयोग करने पर वह विकास को समुचित दिशा प्रदान कर सकता है तथा अपने भीतर उसकी गति को तेज भी कर सकता है साधना का यही तात्पर्य है यही कर्मवाद है उदाहरणार्थ हम प्रवाह में बहने वाले एक तिनके को ले लें यह तिनका एक न एक दिन सागर में जाकर मिलेगा ही यह सत्य है पर यदि उसे अपने भरोसे छोड़ दिया जाए तो पता नहीं कितना समय उसे समुद्र तक पहुंचने में लग जाए कहीं जाकर अटक गया तो वहीं कई दिनों तक पड़ा रह गया फिर हवा के झोंकों से वहाँ से निकला तो और कहीं जाकर अटक गया इस प्रकार अटकते और बहते उस समुद्र तक जाने में न जाने कितने दिन लग जाए अब कल्पना करें कि कोई उस तिनके के अटकाव को लगातार दूर करता जाता है तो ऐसी दशा में वह तिनका अपेक्षाकृत अल्प अत्यल्प समय में सागर में जा मिलेगा बस कर्म या साधना अटकाव को दूर करने की प्रक्रिया है सामान्य रूप से विकास का प्रवाह अपने स्वाभाविक गति से हमें पूर्ण मानव के बिंदु तक ले जाएगा सही पर न जाने रास्ते में कितने अटकाव हैं और हम अटकते भटकते न जाने कब तक वहाँ पहुँचेंगे साधना हमारी इन बाधाओं को दूर करती है और विकास को दिशा एवं गति प्रदान करती है आज का जीव विज्ञान प्रकारांतर से इस बात की पुष्टि करता है जूनियन हक्सले अपने उपरयुक्त लेख पृष्ठ दो में मनुष्य के संबंध में कहते हैं It is only through possessing a mind that he has become the dominant portion of this planet and the agent responsible for its uh, future evolution and it will be only by the right use of that mind that he will be able to exercise that responsibility rightly. He could all to readily be failure in the job. He will succeed only if he faces it consciously and if he uses all his mental resources of knowledge and reason, of imagination, sensitivity and moral effort. मनुष्य मन से युक्त है और इसीलिए वह इस ग्रह का प्रभावी अंग हो गया है तथा उसके भावी विकास क्रम के लिए उत्तरदायी यंत्र बन गया है वह अपने उस मन के सम्यक उपयोग के द्वारा ही अपने उस उत्तरदायित्व को सही ढंग से निभाने में समर्थ होगा वह इस कार्य में एकदम असफल भी सिद्ध हो सकता है वह सफल तभी होगा जब वह सजग होकर उसका सामना करेगा और अपने ज्ञान और विवेक कल्पना शक्ति और संवेदनशीलता तथा नैतिक प्रयास रूप समस्त मानसिक स्रोतों का उपयोग करेगा मन का सम्यक उपयोग ही साधना है अपने ज्ञान और विवेक कल्पना शक्ति और संवेदनशीलता तथा नैतिक प्रयास रूप मानसिक स्रोतों का उपयोग ही साधना है जूलियन हक्सले अनजान में ही साधना की वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत कर देते हैं इससे सुंदर और सटीक साधना अथवा कर्मवाद की परिभाषा और क्या हो सकती है इसका तात्पर्य मानो यह हुआ कि सामान्य गति से चलने पर विकास प्रवाह जितनी दूरी 200 वर्षों में तय करता साधना के द्वारा मन के सम्यक उपयोग से वह उतनी दूरी 20 वर्षों में ही तय कर ले सकता है